अजपा जाप संबंधी सदगुरु ओशो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक 27 उत्तेजना छोड़ो अजपा सुनो भगवान श्री मैबल कॉलिंस की पुस्तिका लाइट ऑन द पाथ में पांचवा सूत्र है उत्तेजना की इच्छा को दूर करो अध्यात्म साधना से इस सूत्र का क्या संबंध है बताने का अनुग्रह करें आवाज परमात्मा की बहुत धीमी केवल वे ही सुन सकते हैं उस आवाज को जिन्होंने व्यर्थ की आवाज़ों और व्यर्थ की आवाज़ों के आकर्षण से अपने को मुक्त कर लिया हम तो भीड़ में जीते हैं आवाज़ों की परमात्मा का स्वाद बहुत सूक्ष्म है और केवल वे ही उस स्वाद को ले सकेंगे जिनके स्वाद लेने की क्षमता उत्तेजना की दौड़ ने नष्ट नहीं कर दी लेकिन सारी इंद्रियां उत्तेजना के लिए आतुर है और उत्तेजना का एक नियम है कि जितनी उत्तेजना दी जाए उतनी ही ज्यादा उत्तेजना की जरूरत होती चली जाती है जैसे कोई आदमी शराब की एक प्याली पिए तो आज बेहोश होगा लेकिन कल दो प्याली की जरूरत पड़ेगी एक प्याली काफी न रह जाएगी एक प्याली को पचा लेने की क्षमता पैदा हो जाएगी एक प्याली से कोई उत्तेजना ही पैदा ना होगी कल दो प्याली की जरूरत पड़ेगी लेकिन परसों तक दो प्याली भी व्यर्थ हो जाएंगी उतनी उत्तेजना भी शरीर संभालेगा तब तीन प्याली की जरूरत पड़ेगी और ऐसी घड़ी भी आ सकती है कि शराब पानी जैसी हो जाए उसमें कोई उत्तेजना न रहे तब और मादक जहर काम में लाने पड़ेंगे आसाम में अब भी तंत्रों का तांत्रिकों का एक छोटा समुदाय सांप को पाल के रखता है क्योंकि और सभी तरह के जहर नशा नहीं लाते सिर्फ सांप से जीप पे कटाएं तो थोड़ा बहुत नशा आता उत्तेजना की दौड़ में हम धीरे धीरे जड़ होते चले जाते जितनी तेज उत्तेजना हम लेंगे उतनी ही हमारी इंद्रियों की क्षमता अनुभव करने की कम हो जाती फिर और ज्यादा चाहिए फिर और ज्यादा चाहिए और इस दौड़ का कोई अंत नहीं ये आखिर में ये दौड़ इंद्रियों को बिल्कुल पत्थर बना देती अगर आप भोजन में बहुत तेज उत्तेजनाएं पसंद करते तो बहुत शीघ्र ही आपके स्वाद की क्षमता मर जाएगी कितनी ही मिर्च आप लें बेस्वाद मालूम पड़ेगा मिर्च का रस क्या है तेज उत्तेजना है स्वाद को जगाने के लिए लेकिन जिसे हम जगाने के लिए लेते हैं वही मारने का कारण हो जाता तो अगर आप बिना मिर्च के भोजन लें तो आपको लगेगा आप मिट्टी खा रहे हैं भोजन का जो स्वाद है वो आपको आता ही नहीं आप आपकी स्वाद की क्षमता कम हो गई ये उल्टा लगेगा स्वाद की दौड़ में स्वाद की क्षमता कम हो जाती जो स्वाद बुद्ध और महावीर को भोजन से मिला होगा वो आपको नहीं मिल सकता इसलिए मैं तो निरंतर कहता हूं कि जिनको हम त्यागी कहते हैं उन जैसा परम भोगी खोजना मुश्किल है क्योंकि उनका जो भी अनुभव है शुद्धतम है अगर बुद्ध पानी भी पिएंगे तो उसमें भी जो स्वाद ले पाएंगे वो आप शराब में भी ना ले पाएंगे क्योंकि जितनी उत्तेजना कम दी गई है इंद्रियों को उतनी ही इंद्रियां ज्यादा सक्षम रहती और सूक्ष्म को पकड़ने में कुशल होती अगर आप जोर के बैंड बाजे सुनने के आदि रहे तो फिर पक्षियों की धीमी सी आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी लेकिन उनका भी गीत है फिर झिंगुर की सन्नाटे में आने वाली आवाज का आपको पता ही नहीं चलेगा उसका भी गीत है फिर हवाएं वृक्षों से गुजरती हैं उनकी जो सरसराहट है उसका भी संगीत लेकिन वो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा लेकिन ये भी उत्तेजनाएं काफी हैं हृदय के भीतर जो गीत की गूंज उठती है वो तो आपको पता ही नहीं चलेगी और आपके अंतस आलोक में अंतस आकाश में जो नाद प्रध्वनित होता है ओंकार का वो तो आपको कभी पता नहीं चलेगा और जिसने अपने हृदय के नाद को नहीं सुना उसने कुछ भी नहीं सुना वो वंचित ही रह गया संगीत के परम माधुरी से तो ये बात पहले ख्याल में ले लें फिर हम सूत्र को समझने चले कि जितनी उत्तेजना की दौड़ होगी उतनी ही ज्यादा आपके अनुभव की क्षमता कम हो जाएगी इसलिए आज दुनिया में उत्तेजना बहुत है और अनुभव बहुत कम है इतने सुख के साधन जमीन पर कभी भी नहीं थे पुराणों में स्वर्ग की जो चर्चा है उसमें भी इतने साधनों का वर्णन नहीं कल्पना में थी ये बातें वो सब पूरी हो गई विज्ञान ने कल्पना को साकार कर दिया आपके पास इतने साधन हैं अनुभव के लेकिन आदमी जो अनुभव करने वाला है वो बिल्कुल जड़ हो गया अमेरिका से एक युवती अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आई उसने मुझे कहा कि आपकी पुस्तक पढ़ी from sex to super consciousness संभोग से समाधि की ओर उसको पढ़ के ही मैं आपके पास आई मुझे ना ध्यान में कोई उत्सुकता है ना मुझे परमात्मा की कोई तलाश है लेकिन मुझे सेक्स में काम संबंध में किसी तरह का भी रस अनुभव नहीं होता मैं उससे ही परेशान हूं किसी तरह का रस मुझे अनुभव नहीं होता मुझे कोई उत्तेजना ही प्रतीत नहीं होती मैं चिकित्सा करा चुकी हूं डॉक्टरों के पास मनोविश्लेषकों के पास मानसिक विश्लेषण करा चुकी हूं हजारों रुपए व्यर्थ खराब हो गए हैं लेकिन मुझे सेक्स में किसी तरह का रस नहीं है सोचा आपने ये किताब है लिखी तो शायद आपके पास तो मैं उससे पूछा कि सेक्स के संबंध में तूने प्रयोग क्या क्या किए तो आपने तो सुना भी नहीं होगा लेकिन अमेरिका में बहुत प्रचलित हो गया है एक विद्युत जन्मेंद्री उन्होंने बना ली है इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर पुरुष की जन्मेंद्री जैसी विद्युत की जन्मेंद्री बना ली बैटरी से चलती है या बिजली से चलती है तो वो लड़की इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर का प्रयोग कर रही थी तो इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर का जब आप प्रयोग करेंगे तो फिर आपकी काम इंद्री बिल्कुल जड़ हो जाएगी क्योंकि किसी पुरुष की जन्नेन्द्री में विद्युत जैसी जन्नेन्द्री की शक्ति नहीं है तो मैं उसको कहा कि तेरा और कहीं कोई कठिनाई नहीं है ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर तुझे नष्ट कर दिया तो इसे छोड़ दे कोई भी इंद्री हो अगर आप उसके साथ उत्तेजना की दौड़ में पड़ेंगे तो निश्चित ही इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर बहुत उत्तेजक है लेकिन तब जो नैसर्गिक क्षमता है इंद्री की वो खो जाएगी जान के आप हैरान होंगे कि तंत्र ने तो जनिंद्री के साथ भी सूक्ष्म अनुभव के प्रयोग किए तो दूसरे के शरीर से भी जनिंद्री का जो घर्षण है वो भी उत्तेजना है उसकी भी जरूरत नहीं आपके काम केंद्र पर जो काम वासना उठती है उसका ही अनुभव बिना दूसरे की मौजूदगी के बिना दूसरे की सहायता के वो और भी सूक्ष्म उसका रस और भी गहरा है लेकिन उत्तेजना जब तक जनिंद्री के पास पहुंच जाती तब भी वो काफी उत्तेजना हो गई वो भी आप अपने ही शरीर के भीतर घर्षण की स्थिति में पहुंच गए दूसरा मौजूद नहीं लेकिन आपके भीतर ही घर्षण शुरू हो गया वो भी काफी स्थूल हो गई बात तो तंत्र ने फिर यह भी प्रयोग किया है कि सिर्फ भाव में शरीर में उसकी कोई भी प्रतिध्वनि ना हो सिर्फ भाव में काम का अनुभव वो और भी सूक्ष्म लेकिन भाव का भी घर्षण तो भाव में भी नहीं भाव के नीचे भी जो अचेतन का तल है जहां हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है वहां तंत्र उस अनुभव को ले गया और तब तंत्र ने जो काम के गहन अनुभव उपलब्ध किए वो पृथ्वी पर किसी ने भी उपलब्ध नहीं किए डुबाते जाना है अगर आप मंत्र शास्त्र के संबंध में कुछ जानते हैं तो आपको पता होगा कि मंत्र शुरू किया जाता है उच्चार से ओम तो उच्चार करते हैं लेकिन उच्चारण काफी उत्तेजक हो गया संघर्ष शुरू हो गया आपकी वाणी जाके वायुमंडल से टकरा गई स्थूल हो गई बात लेकिन शुरुआत करते फिर ओंठ को बंद कर लेते फिर भीतर ही गुंजार करते हैं ओम बाहर कहीं कोई ध्वनि पैदा नहीं होती लेकिन भीतर उसका रस लेते लेकिन भीतर भी तो संघर्ष पैदा होता है तो फिर धीरे धीरे भीतर भी ओम के गुंजार को छोड़ देते हैं अपनी तरफ से नहीं करते फिर तो इस बात की फिक्र करते हैं कि ओम का गुंजार भीतर होता हो तो उसको सुने हम ना करें क्योंकि हमारे करने से घर्षण हो जाए और भीतर एक ओंकार का गुंजन है जब हम नहीं करते तब वो सुनाई पड़ता है उसको अजबा जाप कहा है हम जाप नहीं करते और जाप होता है लेकिन जैसे जैसे हम भीतर सूक्ष्मता में उतरते हैं वैसे वैसे हमें उत्तेजना का मोह छोड़ना पड़ता है और एक ऐसा स्थल है भीतर जो उत्तेजना शून्य है जिसको बुद्ध ने शून्य कहा है इसीलिए शून्य कहा है कि वहां कोई उत्तेजना नहीं जब तक उसका ना अनुभव हो जाए तब तक आनंद का कोई अनुभव ना होगा अब आप फर्क को समझ लें सुख पैदा होता है उत्तेजना से और आनंद पैदा होता है निरुत्तेजना से सुख में घर्षण है आनंद में शून्यता है शांति है